शुरू तो एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे ओ सूत्र तैतीस की भूमिका हाँ जी बोलिए यस्य यस्य चित्तस्य चित्तस्य अवस्थितस्य अवस्थितस्य इदम इदम् शास्त्रेण शास्त्रेण परिकर्म परिकर्म निर्दिश्यते निर्दिश्यते तत् तत्कथम तो अब पिछले सूत्र में और भाष्य में ये सिद्धांत निकला चित्त एक स्थिर वस्तु है क्षणिक नहीं है और वो कोई अवयवों का संघात नहीं है एक अवयवी है और स्थिर चीज है देर तक टिकता है तो इसी संदर्भ में कहते हैं यस्य अवस्थित चित्तस्य तो जिस स्थिर दीर्घजीवी देर तक टिकने वाले इस चित्त का इदम शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते शास्त्र के द्वारा ये सारा परिकर्म विधि विधान बताया जा रहा है योग चित्तवृत्ति निरोधा मन के विचारों को रोको चित्त ऐसा है वो भटकता है इधर उधर भागता है हम उसको भगाते हैं फिर इधर से रोकते हैं उधर से रोकते हैं अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं उन सबको हटाते हैं रोकते हैं तो इस प्रकार से जो सारी व्याख्या की जा रही है चित्त के बारे में उस चित्त को कैसे तो प्रसन्न रखा जाए कैसे एकाग्र किया जाए ये सारी चर्चा बताई जाती है तो वो सारी चर्चा कैसी है तत्कथम वो कैसी है इसको आगे समझाएंगे सूत्र तैतीस बोलिए मैत्री मैत्री करुणा करुणा मुदिता मुदिता उपेक्षाणा उपेक्षाणा सुख सुख दुख दुख पुण्य पुण्य अपुण्य अपुण्य विषयाण विषयाण भावनातः चित्त प्रसादनम चित्त प्रसादनम इस तैतीसवें सूत्र में बताया चित्त को प्रसन्न कैसे रखा जाए सुबह से शाम तक व्यक्ति खुश रहना चाहिए मन उसका प्रसन्न रहना चाहिए पर यहाँ दिन में सुबह से रात तक बीस बार आदमी दुखी हो जाता छोटी छोटी घटनाओं से छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते वो चीज नहीं मिली दुखी हो गए समय पर नहीं मिली दुखी हो गए अच्छी क्वालिटी की नहीं मिली दुखी हो गए उसने कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया दुखी हो गए फिर गैस खत्म हो गई दुखी हो गए आज बर्तन धोने वाली नहीं आई दुखी हो गए आज कपड़े धोने वाला नहीं आया उससे दुखी हो गए फिर लाइट चली गई उससे दुखी हो गए सब्जी वाला आया वो आज खराब सब्जी दे गया तो उससे दुखी हो गए है पड़ोसी ने कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया उससे दुखी हो गए ऑफिस में किसी ने कुछ आरोप लगा दिया उससे दुखी हो गए बॉस ने फालतू झाट डांट लगा दी उससे दुखी हो गए दिन में बीस बार आदमी दुखी होता रहता तो कैसे बचें इन सारे झंझटों से और मन को कैसे खुश रखें प्रसन्न रखें उसका उत्तर इस सूत्र में है संसार में चार प्रकार के लोग हैं सुख मतलब सुखी हैं तो दुख वो दुखी हैं कुछ दूसरे लोग हैं वो दुखी हैं कुछ सुखी हैं कुछ दुखी हैं तीसरे पुण्यात्मा हैं जो अच्छे काम करते हैं परोपकारी देश धर्म समाज की सेवा करते हैं चौथे दुष्ट लोग हैं घोटालेबाज चोरी करते हैं डकैती करते हैं लूटमार करते हैं अपहरण करते हैं हत्याएं करते हैं स्मगलिंग करते हैं ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं झगड़ालू हैं चार तरह के लोग हैं संसार में और हमारे आसपास में ये चारों तरह के लोग मिलते रहते हैं कोई कम कोई अधिक मिलते ही रहते हैं और उनसे भी आमना सामना होता ही रहता है तो हम क्या करें कैसे व्यवहार करें उसका व्यवहार बताया कि जो सुखी लोग हैं उनसे तो मित्रता रखो मैत्री मित्रता रखो सुखी लोगों से सुखी का मतलब जिनके पास बुद्धि अच्छी है व्यवहार अच्छा है धन भी अच्छा है परिवार अच्छा है संपत्ति अच्छी है साधन अच्छे हैं सब कुछ ठीक ठाक है खुश रह रहे हैं प्रसन्न है वो ऐसे जो सुखी साधन संपन्न लोग हैं पढ़े लिखे भी हैं बुद्धिमान भी हैं सभ्यता वाले भी हैं ऐसे लोगों से तो मित्रता बना के रखो तो आपका मन प्रसन्न रहेगा अच्छे धनवान बुद्धिमान लोगों से मित्रता बनाओ समय पर वो आपको सहयोग देंगे और आप भी उनको सहयोग देंगे दोनों एक दूसरे को सहयोग देंगे दोनों खुश रहेंगे तो एक उपाय बताया कि जो सुखी लोग हैं उनके साथ मित्रता बना के रखो दूसरे समाज में कुछ दुखी लोग हैं विकलांग हैं हाँ बोलिए प्रश्न है मित्रता है मित्रता की परिभाषा ये है कि उनसे प्रेम भाव रखो मिलना जुलना आना जाना बैठना उठना हालचाल पूछना और खाना पीना सहयोग देना और लेना ये है मित्रता जितनी सुविधा हो चाहे सप्ताह में आप दो बार मिले एक बार मिले पंद्रह दिन में एक बार मिले उनसे कुछ ना कुछ संचार संपर्क कुछ ना कुछ बनाए रखें ताकि समय आने पर दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकें मनुष्य अकेला नहीं जी सकता उसको दूसरों का सहयोग चाहिए कभी किसी का कभी किसी का कभी रोगी हो जाते हैं तो डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है कोई ऑफिस में काम अटक गया तो कोई अपना मित्र है उस ऑफिस में तो उसकी सहायता से काम जल्दी हो जाता है और अच्छी तरह से हो जाता है ठीक ठीक होता है इस तरह से तो उन लोगों से मित्रता मतलब संबंध बनाए रखना मिलते रहना संपर्क बनाए रखना सहयोग लेना और देना ये हो गया मित्रता दूसरे हैं बेचारे दुखी लोग हैं परेशान हैं विकलांग हैं कोई रोगी हैं कोई अनाथ हैं कोई एक्सीडेंट हो गया हाथ पांव टूट गया अब वो कमा खा नहीं सकते कुछ बूढ़े हो गए कमजोर हो गए अशक्त हो गए वो बेचारे मजबूर हैं परेशान हैं किसी भी तरीके से तो उनके प्रति करुणा दया की भावना रखनी चाहिए उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और यथाशक्ति उनका सहयोग करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं जिस तरह का भी कर सकते हैं उनका सहयोग करें तीसरे हैं जो पुण्य आत्मा लोग हैं अच्छे लोग हैं परोपकारी लोग हैं देश धर्म समाज की सेवा में लगे हुए हैं दिन रात लगे हुए हैं कोई बिना किसी खास स्वार्थ के लौकिक स्वार्थ के बिना ही मोक्ष का उद्देश्य बना करके परोपकार में लगे हैं ऐसे अच्छे लोग हैं उनको देख करके मुदिता प्रसन्न होना चाहिए खुश होना चाहिए वाह हमारे देश में इतने अच्छे लोग हैं बढ़िया बढ़िया लोग हैं जो देश की सेवा के लिए धर्म की सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं परोपकार में और कुछ अपना स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते और लगे हैं तो बहुत खुशी की बात है ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होने चाहिए देश में जो कि देश की रक्षा कर सकें प्रजा को सुख दे सकें अविद्या से बाहर निकाल सके इस तरह से तो उनको देखकर खुश होना चाहिए चौथे हैं खराब तरह के लोग लड़ाई झगड़े वाले छली कपटी झूठे बेईमान अपराधी टाइप के तो उनके प्रति उपेक्षा उनसे दूर रहो उपेक्षा भाव रखो राग भी नहीं द्वेष भी नहीं उनसे संबंध भी नहीं रखना और उनसे द्वेष भी नहीं रखना संबंध तोड़ देना व्यवहार ही बंद कर दो क्योंकि उनके साथ बैठेंगे तो फिर कुछ ना कुछ झगड़ा रगड़ा चलेगा क्योंकि वो शांति से जीना जानते नहीं शांति से जी नहीं सकते वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं और दूसरे को भी लपेट लेंगे उस गलत व्यवहार में इसलिए उनसे दूर रहना ठीक है संपर्क तोड़ देना यह है उपेक्षा तो ये चार तरह के लोग हमको व्यवहार में मिलते रहते हैं तो जो व्यक्ति जैसा मिले उससे यथा योग्य व्यवहार करना चार तरह का व्यवहार बता दिया जो इस तरह से करता है वो खुश रहता है उसका चित्त न उसका चित्त प्रसन्न रहता है तो वो खूब आनंद से जी सकता है और जब उसका चित्त प्रसन्न होगा तभी वो एकाग्र हो सकता है अगर चित्त प्रसन्न नहीं है मन में खिन्नता है दुख है क्रोध है ईर्ष्या है द्वेष है जलन है तो वो ऐसा बिगड़ा हुआ चित्त ईश्वर में एकाग्र नहीं होगा फिर हम आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए पहले उसको प्रसन्न करना आवश्यक है और प्रसन्नता के ये उपाय हैं चार हाँ बोलिए प्रश्न जो देखा जाता है जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा हम्म। मतलब होते हैं और जो गरीब है थोड़ा वो अच्छे से हम्म। तो उनके रास्ते कैसे बनाए उसमें भी यही देखना है कि जो बहुत ज्यादा अमीर हैं बहुत संपत्ति वाले हैं और उनमें प्राय संभावना होती है ज्यादा गड़बड़ करने की ज्यादा गड़बड़ करते हैं तो ऐसे लोगों से बच के रहो जो थोड़े मध्यम स्तर के लोग हैं ठीक ठीक पैसे वाले हैं संपत्ति वाले भी हैं बुद्धि वाले भी हैं व्यवहार भी ठीक है सभ्यता भी ठीक है धन की स्थिति मध्यम है और व्यवहार में भी ईमानदारी से चल रहे हैं अधिकतर उन लोगों से मित्रता रखें एक बात बता दूं सच सच जो अधिक पैसा होता है ना वो प्राय बुद्धि को बिगाड़ता है जब बिगाड़ता हाँ बिगाड़ता है जब पैसा अधिक आ जाता है ना जेब में तो वो बुद्धि को खराब करता है हमारी जेब में आएगा तो हमारी बुद्धि बिगड़ेगी और दूसरे की जेब में जाएगा तो उसकी बिगड़ेगी इसलिए ज्यादा पैसे से बचना चाहिए खुद भी बहुत मत कमाओ और जो बहुत कमाता हो उससे भी बच के रहो दूर रहो तो अच्छा है तो हाँ हाँ बुरा नहीं कमाना ही बुरा है क्यों कमा रहे हैं जब जमा तो करना ही नहीं फिर कमा क्यों रहे कमाओ ही मत जनसेवा के लिए जनसेवा खाली बोलने की बात है कोई करता नहीं सब झूठ बोलते हैं कि हम पैसा इसलिए कमा रहे हैं जनता की सेवा करेंगे कोई नहीं करता सब बहानेबाजी है जब तक पैसा जेब में आता नहीं है तब तक कहता हाँ साहब बहुत पैसे कमाऊंगा आधा देश में खर्च कर दूंगा समाज सेवा में दे दूंगा और जब पैसा जेब में आता है तो बुद्धि घूम जाती है आधा पैसा क्यों दे दो ये मजाक क्या क्या मुफ्त में थोड़ी आते हैं वैसे दिमाग घूम जाता है फिर नहीं देगा वो इसलिए ये वेद का सिद्धांत है ऋषियों का सिद्धांत है बहुत पैसे कमाओ ही मत पहले कमाने में झंझट फिर उसकी रक्षा में झंझट फिर खर्चा हो जाए तो समस्या और दान देने का मन नहीं करता और कहीं चोरी हो जाए तो फिर परेशान दुखी इसलिए वो पैसा तो दुख की जड़ है इसलिए ज्यादा कमाना ही नहीं चाहिए थोड़ा सा आ भी जाए तो फट से उसको बांट दो जमा मत करो परेशान करेगा इसलिए जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनसे बच के रहना चाहिए दूर रहना ठीक है उन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता कब थोड़ी सी बात में नाराज हो जाएंगे थोड़ी सी बात में खुश हो जाएंगे जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना उनके मन का भरोसा नहीं होता तो वो क्या करेंगे रोज आपको परेशान करेंगे नचाते रहेंगे आज छोटी सी बात से खुश हो गए कल छोटी सी बात से नाराज हो गए फिर वो नाराज होंगे फिर आपका कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे कुछ और नुकसान कर देंगे किसी का दिमाग खराब कर देंगे वो आपको और बिगाड़ देगा कुछ काम इसलिए उनसे ज्यादा संबंध रखना ठीक नहीं है उनसे दूर रहना ही ठीक है हम्म। आजकल तो संपर्क बहुत कम हो गया हमारा हम्म। बाकी लोगों से हम्म। तो वो बनाने में भी ज्यादा हाँ उतनी उतनी सीमा तक बना के रखें कि मान लो कल को जरूरत पड़ जाए तो उनसे सहयोग ले भी सकें और उनको दे भी सकें क्योंकि जैसे बताया मनुष्य अकेला नहीं जी सकता उसको समाज की सहायता की जरूरत पड़ती रहती है अलग अलग क्षेत्रों में काम पड़ते हैं तो वहां दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है तो जब लेनी पड़ती है तो देनी भी पड़ती है व्यवहार तो ऐसे ही चलता है अगर हम रोज दूसरों से सहायता लेते ही रहें और दें किसी को भी नहीं तो थोड़े दिनों में लोग हमको पहचान लेंगे कि ये सारे स्वार्थी लोग हैं तो वो धीरे धीरे संबंध तोड़ देंगे तो हमारा वो काम फिर अटक जाएगा जो आज सिद्ध हो रहा है कल वो भी अटक जाएगा हम यदि चाहते हैं दूसरों से सहयोग लेते रहें तो कुछ कुछ हमें दूसरों को सहयोग देना भी पड़ेगा उसके लिए समय निकालना पड़ेगा तो प्रयत्न विशेष रूप से करके जो आर्य हाँ जो अच्छे स्तर के लोग हैं आर्य विचारधारा के अपने गुणकर्म स्वभाव जिनसे मेल खाते हैं विचार मेल खाता है हमारा उद्देश्य भी मेल खाता है ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का चुनाव करें दो चार पांच सात दस जितने भी हों उनसे महीने में एक बार दो बार मिलते रहें या पत्र से ईमेल से फोन से किसी भी तरह से संपर्क बनाए रखें तो उससे क्या होता है कि प्रेम भाव बना रहता है और समय आने पर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता कर देता है तो सहायता देनी भी चाहिए और लेनी भी चाहिए इस तरह से यह है मैत्री का मतलब और ये जो पुण्यात्माएं जो है हम्म। जैसे कि आप लोग हम्म। तो उनसे भी मैत्री कर सकते हैं या हम हाँ, मैत्री भाव उनसे भी ठीक है रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और उनके लिए एक दूसरा शब्द यहां रखा है प्रसन्नता ये इसलिए रखा है कि कई बार अच्छे परोपकारी लोगों को देखकर मन में द्वेष उठता है द्वेष उठता है कि देखो ये सब देश भर में घूमते हैं और समाज सेवा करते हैं इनको इतना सम्मान मिलता है बड़ी सुविधाएं मिलती हैं इनको सब लोग सर पे बिठाते हैं फूलहार पहनाते हैं इतना और हमें कोई पूछता नहीं है ये ये क्या मतलब इनको बहुत सेवा होती है हमको कोई पूछता नहीं तो ऐसे मन में द्वेष आता है ये नहीं हाँ ये इसको रोकना इस द्वेष को रोकना कभी द्वेष ना आ जाए इसलिए उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए वाह बहुत बढ़िया बात है बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के लोग इतने अच्छे अच्छे हैं और ऐसे अच्छे बढ़िया काम कर रहे हैं जैसे उदाहरण देता हूं आजकल का जैसे मैच होते हैं ना क्रिकेट के हम्म। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हम्म। तो जब इंडिया की टीम जीतती है तो कितने खुश होते हैं लोग हम्म। भारत के वाले खूब खुश होते ये देखो हमारी टीम जीत गई जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया नहीं। बैठे हैं अपने घर में टीवी देख रहे हैं <laughs> और बड़े खुश हो रहे हैं हाँ धोनी ने अच्छे क्रिकेट में <laughs> इतने नंबर मारे इतने इतने रन बनाए सचिन ने इतने बनाए और खूब नाचते हैं और पटाखे फोड़ते हैं खूब खुश होते हैं भाई हमारे देश का आदमी है जीत गया तो हमारे देश की योग्यता है उसको देखकर खुश होते हैं तो जैसे टीम वाले क्रिकेट वाले खुश होते हैं ऐसे हमको भी होना चाहिए हमारे देश का व्यक्ति कितना अच्छा बुद्धिमान है देखो देश भर में काम कर रहा और विदेशियों को भी कभी कभी जाके सिखाते हैं या उनको भी प्रेरणा देते हैं सबको अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं सबकी समस्याएं सुलझाते हैं सबको दुख से बाहर निकालते हैं तो इस तरह से उनको देखकर हमें भी प्रसन्नता खुश होना चाहिए और एक जो जी ये बुरे लोग हैं हम्म तो उनके बारे में तो ऐसा विद्यापूर्वक तो द्वेष होता है जब कभी जिक्र निकलता है उनका हम्म। हमारा कोई, हाँ कोई प्रसंग आ गया हाँ। ठीक है तो द्वेष होना यानी मंजू होना उनके पीछे हम्म। क्योंकि वैसे तो उनका ज्यादा जिक्र तो निकलता है नहीं कभी ठीक है आ गया तो किसी ने पूछा तो कभी कभी कोई चर्चा चल पड़ी हाँ तो उनसे क्या रखना उनसे संबंध नहीं रखना जो खराब लोग हैं दुष्ट लोग हैं ऐसे हानिकारक लोग हैं उनसे बच के रहो उनसे लेना भी नहीं देना भी नहीं संबंध ही नहीं रखना उनसे एक होता है द्वेष एक होती है उपेक्षा दोनों में अंतर है द्वेष करना तो सरल है उपेक्षा करना कठिन है हर आदमी उपेक्षा कर भी नहीं सकता उसकी उतनी योग्यता नहीं है योग्यता भी तो चाहिए ना उपेक्षा करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है व्यक्ति कहता है जी मैं तो उससे उपेक्षा करता हूं जबकि रखता है वो द्वेष वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो कर तो रहा द्वेष और मान तो आई है कि मैंने तो उपेक्षा कर रखी है हाँ, तो दोनों में अंतर क्या है वो सुनिए मान लिया किसी व्यक्ति ने आपका कोई नुकसान कर दिया आप पे झूठा आरोप लगाया आपको फालतू बदनाम किया है ऐसे ऐसे कुछ आपका सामान भी चुरा लिया कुछ छीन लिया खा गया ऐसे देता भी नहीं कब्जा करके बैठा नहीं देता तो जब कोई व्यक्ति हमारा नुकसान करता है हानि करता है तभी तो उस पर कुछ गुस्सा आएगा ना ऐसे बैठे बैठे थोड़ी आएगा किसी पे गुस्सा तो वो एक अवसर है गुस्सा करने का उससे झगड़ा करने का उससे बदला लेने का ऐसे ऐसे अवसर आते रहते हैं तो किसी ने हमारा नुकसान कर दिया और हमने सोचा चलो छोड़ो जाने दो झगड़ा नहीं करेंगे तो स्थूल रूप से हम झगड़ा नहीं कर रहे बाहर से कोई मोटा बदला लेने का व्यवहार हम नहीं कर रहे पर अंदर अंदर उसको याद कर करके दुखी होते रहते हैं मन में क्रोध उठता रहता है जलन होती रहती है कि ये बेकार आदमी इसने बहुत नुकसान किया हमारा और देखो कभी अवसर आएगा तो कोई इससे टकराने वाला आएगा तो हम उसको भी भड़का देंगे भाई तू ठोक इसके दो चार <laughs> तो कुछ थोड़ा इस तरह से थोड़ी शांति आ जाएगी उसके भी दो चार पढ़नी चाहिए <laughs> तो इस तरह से मन में सोचते रहते हैं ये द्वेष का स्वरूप है हमारे मन में कष्ट है जलन है क्रोध है बदला लेने की इच्छा है और हम अवसर की भी प्रतीक्षा में है कि जब अवसर आएगा तो तब इसको पढ़नी चाहिए दो चार तो ये द्वेष का लक्षण है तो इसमें क्या है मन में अशांति है परेशानी है उसके प्रति जलन है क्रोध है जो उपेक्षा होती है उसमें कुछ नहीं होता है न जलन होती है न क्रोध होता है न बदला लेने की इच्छा होती है न कुछ द्वेष होता है कुछ नहीं होता वो सोचता ही नहीं सोचना ही बंद मतलब उस पर विचार करना ही छोड़ देता है कि इसके बारे में सोचना ही नहीं वो जो कर रहा है कर रहा है करने दो अपने आप दंड भोगेगा ईश्वर उसको दंड दे देगा समाज दंड दे देगा जो भी दे देगा मुझे सोचना ही नहीं कुछ भी नहीं सोचना इसका नाम है उपेक्षा अगर उपेक्षा करते हैं हम तो हमारे अंदर जलन नहीं होगी क्रोध नहीं होगा द्वेष नहीं होगा कुछ नहीं होगा जब हम उसके बारे में सोचते ही नहीं तो फिर क्या होगा कुछ नहीं जीरो हमारे पास और बहुत सारे काम है उसमें मन लगा रखेंगे हम टाइम ही नहीं है हमारे पास और इतने सारे काम है तो थोड़ा सा समय है काम बहुत सारे हैं उस समय में हम और बहुत से काम करते रहेंगे उस गड़बड़ वाले व्यक्ति से हम सोचते ही नहीं उसके बारे में सोचना ही छोड़ देंगे इसका नाम है उपेक्षा जी तो जो सपोज अभी राहुल गांधी है हम्म। सोनिया गांधी लोगों हम्म। हम्म। के खिलाफ कुछ फेसबुक पे आता है ठीक है उसमें एक ऑप्शन रहता है शेयर करो तो शेयर करना द्वेष है या शेयर करने का उद्देश्य क्या है एक जागृति हो हाँ एक व्यक्ति दुष्ट है हाँ। वो देश की हानि कर रहा है और दूसरे व्यक्ति ने उसके बारे में प्रचार किया कि देखो ये दुष्ट है और ये खराब काम कर रहा है इससे देश को नुकसान है और इससे जो है बचना चाहिए हाँ। और फिर वो कहता है इस बात को दूर तक प्रचारित कर फैलाओ तो अगर आप मध्यम स्तर के व्यक्ति हैं और आपकी भी कुछ इच्छा है कि हाँ इस झूठे का प्रचार करना चाहिए कि ये झूठा आदमी है इससे बच के रहो इस तरह की कुछ रजोगुणी प्रवृत्ति आपकी इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा है तो फिर आप उसको शेयर करते हैं और भी लोगों तक पहुंचाते हैं प्रचार करते हैं तो रजोगुणी व्यक्ति के लिए ठीक है ठीक है और जो सत्वगुणी व्यक्ति हो जिसका उद्देश्य विशेष मोक्ष प्राप्ति अध्यात्म शांति चिंतन पठन मनन इस तरह का हो थोड़ा ब्राह्मण वृत्ति वाला हो तो उसको इस प्रचार में नहीं बढ़ना चाहिए इस तरह की ये क्या है राग द्वेष बढ़ाने वाली चीज है हम्म। ये इससे द्वेष बढ़ेगा हम्म। मोटे तौर पर वो जिसने इसके बारे में लिखा हम्म। वो भी कोई इतना संयमी तो है नहीं वो भी थोड़ा द्वेष में भर के ही लिख रहा है कि ये बेकार लोग हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं और हम भी उसके सुर में सुर मिलाएंगे तो फिर हमारे अंदर भी कुछ तो उठेगा तो फिर उससे क्या है रजोगुणी प्रवृत्ति बढ़ेगी तो हमको ये देखना है कि हमारा स्तर कैसा है हमारा उद्देश्य कैसा है हमारी योग्यता कैसी है अगर हम क्षत्रिय स्वभाव के हैं तो शेयर करना चाहिए प्रचार करना चाहिए खूब विस्तार से बताना चाहिए लोगों को ये दुष्ट है इससे बच के रहो सावधान और उसके विरुद्ध जो भी कर सकते हैं वो भी प्रयास करना चाहिए ठीक है अगर हम क्षत्रिय स्तर के व्यक्ति हैं अगर हम ब्राह्मण स्तर के व्यक्ति हैं तो फिर हमारी दिशा रुचि थोड़ी उससे अलग होगी फिर हम ऐसे बातों का प्रचार नहीं करेंगे उससे थोड़ा बचेंगे और हम पॉजिटिव अच्छी बातों का प्रचार करेंगे हाँ सुविचार बताएंगे कि ऐसा करो वैसा करो अच्छा करना चाहिए बुराई से बचना चाहिए दुष्टता से बचना चाहिए अपना सुधार सुधार बनाए रखो अपना बिगाड़ मत होने दो इस तरह से हम पॉजिटिव और थोड़ा शांत वृत्ति की बातों का प्रचार करेंगे करेंगे तो सही कुछ ना कुछ तो करना ही चुपचाप तो बैठे रहने से रोटी नहीं मिलेगी और ये गाय का वगैरह करते हैं हम्म। तो उस क्षेत्र में कैसे हाँ, उसका भी वही उत्तर ये सारे राज, राजसिक कार्य हैं हम्म। ये राजनीति से संबंधित देश से संबंधित रजोगुणी कार्य हैं अगर हमारी वृत्ति इस तरह के सामाजिक कार्यों में है और हमारा रुचि और आगे भविष्य योजना भी इसी तरह की है कि हमें समाज सेवा के ही काम करना है मोक्ष हमारा लक्ष्य नहीं है अगर ये बात है तो फिर इसमें भाग लेना चाहिए हाँ, गोहत्या के विरोध में भाषा के आंदोलन में हिंदी भाषा और का प्रचार करो अंग्रेजी को रोको मांसाहार को रोको गौहत्या को रोको शराब को रोको फिर समाज कार्य के उद्देश्य में घुस गए तो फिर वो तो दिशा हमारी अलग हो जाएगी और अगर मोक्ष और शांति और सात्विकता ध्यान उपासना परोपकार इस तरह का उद्देश्य हो तो फिर ऐसे कार्यों से बचना चाहिए कोई पूछे साहब आप तो इन कार्यों को कैसा मानते हैं तो शाब्दिक रूप से हम कहेंगे हाँ ये अच्छा काम हम इसका समर्थन करते हैं विरोध नहीं करते दुष्टों को दंड मिलना चाहिए गौत्या रोकनी चाहिए शराब बंद होनी चाहिए हिंदी का प्रचार होना चाहिए स्वदेशी का प्रचार होना चाहिए हम वैचारिक स्तर पर हम उसके समर्थन में हैं उसका विरोध नहीं कर रहे पर प्रत्यक्ष रूप से हम अपनी शक्ति उस काम में नहीं लगा सकते हमारा लक्ष्य कुछ और है हमारा लक्ष्य थोड़ा अलग है तो इस तरह से व्यवहार करेंगे तो कोई दोष नहीं आएगा एक आदमी सारे काम कर नहीं सकता या तो ब्राह्मण वाला काम करेगा या क्षत्रिय वाला या वैश्य वाला कोई कहेगा साहब क्या फैक्ट्री लगाना बुरी बात है कारखाना लगाना कोई बुरी बात है बुरी बात तो नहीं है तो फिर आप करो फिर हम नहीं कर सकते हमारी रुचि नहीं है उस काम में हम वैश्यवृत्ति वाले नहीं है हम दुकान नहीं चलाएंगे दुकान चलाना अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं है काम ठीक है पर हमारी रुचि का नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे तो गौहत्या रोकना हिंदी का प्रचार करना स्वदेशी का प्रचार करना भ्रष्टाचार को रोकना बहुत अच्छा काम हम इसके समर्थन में है इसके विरोध में नहीं है पर वो हमारी रुचि का काम नहीं है हम अपनी पूरी शक्ति उसमें नहीं लगा सकते हम अपने उद्देश्य के लिए पूरी शक्ति लगाएंगे इस तरह से चलना चाहिए ठीक हो गया हाँ तो ये बात हो गई इस प्रकार से यदि हम अपनी भावना बनाते हैं और लोगों से इस तरह का व्यवहार करते हैं तो इससे चित्त प्रसन्न रहता कोई भी काम करना हो उसको अच्छी तरह से उस पर विचार करें और अपनी अपनी प्रवृत्ति को देखें हमारी दिशा रुचि गति किस ओर यदि जो कार्य सामने आया हमारी इस ओर है तो ठीक है उसमें जोर लगा देंगे अगर वो काम ठीक है पर अपनी दिशा के अनुकूल नहीं है तो उसको छोड़ देंगे कोई चर्चा करेगा तो कहेंगे हाँ अच्छा काम है समर्थन है करो बहुत अच्छी बात करना चाहिए और एक छोटा जी ये सब मानसिक करना है थोड़ा शारीरिक भी थोड़ा करना है कौन सा ये जो व्यवहार है इन लोगों के साथ करना है हाँ शारीरिक भी सामर्थ्य है हम्म। शारीरिक भी करेंगे आर्थिक सामर्थ्य आर्थिक सहयोग भी करेंगे और मानसिक भी करेंगे सब प्रकार से करेंगे यथाशक्ति अपने सामर्थ्य को ध्यान में रख करेंगे जी मुख्य रूप से मन का विषय हाँ ये मुख्य रूप से जो इन लोगों से जो भावना रखनी है तो वैसी भावना रखेंगे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा और वो भावना फिर कहीं कहीं तो व्यवहारिक भी आएगी मतलब शारीरिक रूप से भी हमें वैसा व्यवहार करना पड़ेगा केवल मानसिक से काम नहीं चलेगा जैसे बताया कि सुखी लोगों से मित्रता रखो तो कभी कभी उनके घर जाना भी पड़ेगा उनको घर भी बुलाना पड़ेगा उसके लिए समय भी खर्च करना पड़ेगा वो हमारे घर आएंगे तो दो घंटा लगेगा हमें और काम छोड़ के उनके साथ बैठना पड़ेगा कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ेगा कल हम उनके घर जाएंगे तो हमको भी दो तीन घंटा टाइम निकालना पड़ेगा बैठेंगे बात करेंगे कुछ चर्चा करेंगे कुछ सहयोग लेना कुछ देना कुछ उनका काम करना कुछ उनसे काम करवाना तो उसमें घंटा दो चार घंटा वो भी लगेगा शारीरिक रूप से भी करना होगा और मानसिक भी करना होगा दोनों तरह से करना पड़ेगा तो आगे भाष्य पढ़ते हैं बोलिए तत्र सर्व प्राणीषु सर्व प्राणीषु सुख संभोगापन्नषु सुख संभोगापन्नषु मैत्रीम मैत्रीम भावयेत भावयेत तो पहला व्यवहार बताते हैं कि सुख संभोगापन्नेशु जितने भी सुख साधनों से संयुक्त हैं युक्त हैं उन सब प्राणियों के प्रति मैत्री भावयेत मित्रता की भावना रखें यहां तो प्राणी तक का नाम आ गया वैसे प्रायः ये बात मुख्य रूप से मनुष्यों तक ही लागू होती है क्योंकि सुख सबसे ज्यादा मनुष्यों के पास ही है इतनी बुद्धि तो औरों के पास है नहीं जितनी मनुष्यों के पास है तो मनुष्यों में जो सुखी हैं बुद्धिमान हैं पढ़े लिखे हैं धनवान भी हैं सब प्रकार के साधन युक्त हैं वो है सुखी लोग तो उनके साथ अपनी मित्रता की भावना बनाए रखे और व्यवहार में भी मित्रता बनाए रखे दोनों तरह से दुखितेशु करुणाम दुखितेशु करुणाम और जो दुखी हैं विकलांग हैं रोगी हैं मजबूर हैं कमजोर हैं असहाय हैं ऐसे लोगों के प्रति करुणा दया की भावना रखे और यथाशक्ति उनको सहयोग भी दे जितना दे सकते हैं जी तो ये जो लंगड़े वगैरह तो उनको कितना देना चाहिए जो दस पांच रुपए देना भी बहुत कम लगता है उनको तो उसमें ऐसा होता है कि एक तो ये देखना आजकल कई तो नकली भी होते हैं हम्म। असली होते भी नहीं नकली होते हैं पहले तो ये जांच करनी है कि ये असली रोगी है या नाटक कर रहा है हम्म। ऐसे बहुत सारे होते हैं फिर असली रोगी मिल गया और उसको आवश्यकता भी है तो फिर उसमें ये देखना होता है कि हम उसको दस रुपए देते हैं हमारे जैसे और भी बहुत सारे हैं दो सौ सौ पचास आदमी और भी हैं वो भी दस दस रुपए देते हैं कोई पांच रुपए देता कोई दस रुपए देता तो थोड़ा थोड़ा सब देते हैं उसका काम चल जाता है अगर वो सारे दिन बैठा रहे और हम ही जैसे दो चार ही आए उसको पांच पांच पच्चीस रुपए दे तो पच्चीस में उसका गुजारा नहीं चलेगा ठीक है तो वो भी देख लेना चाहिए कि इसको और भी देने वाले हैं तो हमने भी एक को नहीं देना कईयों को देना एक यहां मिला इसको दस दे दिया फिर एक थोड़ा अगले चौराहे पे मिलेगा फिर उसको भी दस देंगे पांच दे देंगे किसी को पांच दे देंगे उसकी स्थिति के हिसाब से किसी को दस किसी को पांच तो ऐसे बांट करके देना चाहिए जनरली क्या होता है मेरे मेरे अफेक्शन मैं तो ऑफिस हम्म। बस से ठीक है महीने में वगैरह एक आधा ही मिलता होगा ठीक है तो कैसे करें हाँ उसको दे दिए दस बीस दे दिए हम्म। और आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ दान देना चाहिए इस विभाग में हम्म। विकलांगों के लिए रोगियों के लिए वृद्धों के लिए तो फिर कोई उनकी संस्था में एक दिन चक्कर मारो जहां विकलांग लोग रहते हैं मेंटली रिटायर्डेड हैं मानसिक रोगी हैं ऐसे कोई हाथ पांव टूटे बूटे हैं कमजोर हैं लंगड़े लूल हैं उनकी संस्था में ही जाओ और वहां देखो कि ये लोग बेचारे कैसे रह रहे हैं परेशान हैं दुखी हैं इनके पास साधनों की कमी है तो वहां फिर 200 400 500 हजार रुपया इकट्ठा ही दे दिया अथवा आपको ऐसा लगता है कि यहां पैसे का दुरुपयोग होगा ये लोग ऊपर वाले खा जाएंगे हाँ वो तो इनके हाथ में तो फिर भी नहीं आएगा ये तो प्रबंधक ही खा जाएंगे सारा ऐसा लगता हो हम्म। तो फिर वस्तु बना के दे दो कई लोग ऐसे होते हैं घर से वो पूरी सब्जी बना के ले जाते हैं हम्म। और वहां अपने हाथ से खिलाए जाते हैं उनको रोगियों को अपने हाथ से दे भी दिया और अपनी आंख से देख भी लिया कि इनके पेट में गया तो उनको अच्छा संतोष हो जाता कई लोग ऐसा भी करते हैं अच्छा हाँ ये ढंग अच्छा है तो अपनी आंख से देख भी लिया कि उनको मिला जिसको देना है से और हमको उससे संतोष मिलता है चलो हमारी सेवा होगी दूसरों की सेवा की हमने रोगियों की तो इस तरह से भी कर सकते हैं तो बच्चे का जन्मदिन था इकतीस तो हमने घर में बैठ के विचार किया कि कुछ न कुछ हमको करना चाहिए तो फिर वृद्ध आश्रम की तपस्या हम्म। वृद्ध आश्रम में रूबर गए हम्म। फल फूल लेके भर के गए हम्म। और अपने हाथ से सब कुछ दे दिया बस बढ़िया बहुत अच्छा ये अच्छा है ऐसा कर सकते हैं और ऐसे भी लोग थे जिसको टेबलेट्स की जरूरत थी उसके लिए दवा भी वोट देते हम्म, बहुत अच्छा ठीक बात है ये अच्छी बात है ऐसे ऐसे हमको व्यवहार करना चाहिए तीसरी बात आगे पुण्यात्मकेशु पुण्यात्मकेशु मुदिताम मुदिताम तो व्याख्या तो करी थी जो पुण्यात्मा है उनको प्रति भावना प्रसन्नता की रखो खुश हो देख करके बहुत अच्छी बात है चौथा अपुण्यशीलेशु अपुण्यशीलेशु उपेक्षा उपेक्षा तो जो अपुण्यशील हैं पाप करते हैं झूठ छल कपट चोरी बेईमानी ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं उनसे उपेक्षा रखो संबंधी तोड़ दो मिलना ही नहीं लेना नहीं देना नहीं कुछ नहीं उनसे अलग ही रहो एक किसी विद्वान ने श्लोक लिखा दुर्जन संसर्ग ऐसा था वो श्लोक तो उसका उदाहरण था कोयले का उष्णो दहती च अंगारा शीत कृष्णायते करम अंगारा कोयला जो होता है ना यदि वो लाल लाल है तो हाथ जलाएगा और ठंडा है तो हाथ काला करेगा इसलिए अंगारों से तो दूर ही रहना चाहिए दोनों टाइम में नुकसान ही करते हैं तो दुष्ट लोगों से दूर रहना ही ठीक है पास रहेंगे तो भी बिगाड़ेंगे और दूर और झगड़ा करेंगे तो भी बिगाड़ेंगे कुछ ना कुछ नुकसान ही करेंगे इसलिए उनसे दूर रहना ही अच्छा है वो आदमी ठीक रहता है खुश रहता है प्रसन्न रहता है तो अपुण्य आत्माओं में उपेक्षा की व्यवहार भावना रखनी चाहिए एवं अस्य एवं भावयत शुक्लो धर्म शुक्लो धर्म उपजायते उपजायते तो इस प्रकार से ऐसी भावना करने वाले व्यक्ति का शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है अर्थात उसमें सत्वगुण जागता है सात्विकता उभरती है जो इस तरह का व्यवहार रखता है चार तरह से चार तरह के लोगों के साथ तो उसके अंदर सत्वगुण की वृद्धि होती है और फिर उससे क्या लाभ होता है आगे पढ़ते हैं ततश्च ततश्च चित्तम चित्तम प्रसिद्धति प्रसिद्धति उससे चित्त प्रसन्न होता है सत्वगुण बढ़ेगा हमने जो किया अच्छा किया पूरा कर्तव्य का पालन किया ठीक ठीक किया उससे शरीर में मन में सत्वगुण बढ़ेगा बढ़ेगा और उस सत्वगुण की वृद्धि से चित्तम प्रसिद्धति चित्त प्रसन्न रहेगा प्रसन्नम प्रसन्नम एकाग्रम एकाग्रम स्थिति पदम स्थिति पदम लभते लभते तो जो चित्त प्रसन्न होता है वो एकाग्र होता है और एकाग्र होकर स्थिति पद को यानी समाधि को प्राप्त हो जाता है तो समाधि तक पहुंचा देगा इसलिए योगाभ्यासी को इस तरह से व्यवहार रखना चाहिए ठीक है और प्रश्न हो तो बोलिए हम्म अभी कभी जाते हैं लोग मार्केट में जैसे Mm. दुख नहीं होना चाहिए यही तो विशेषता है योगाभ्यासी की यह विशेषता है कि वो घटना को देखता है घटना को समझता है उस गलत घटना को रोकने के लिए जो वो कर सकता है वो करता भी है प्रयास भी करता है पर वो दुखी नहीं होता इतनी योग्यता योगाभ्यासी में होनी चाहिए यदि वो दुखी हो जाता है तो फिर इसका अर्थ है कि वो उसका मन पर नियंत्रण नहीं है उसकी अभी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है दुखी नहीं होना चाहिए एक उदाहरण देता हूं मोटा सा आपको समझ में आएगी बात एक डॉक्टर है उसके पास रोज 200-250 मरीज आते हैं वो सबको चेक करता है सबका परीक्षण करता है किसी को कोई रोग है किसी को कोई रोग है किसी को मिर्गी है किसी को टीबी है किसी को कैंसर है किसी को बुखार है किसी को कुछ है उन रोगियों को देखकर क्या डॉक्टर दुखी होता है नहीं होता तो जैसे डॉक्टर का काम है वो रोगियों को देखता है चेक करता है परीक्षण करता है उनकी चिकित्सा भी करता है सहानुभूति भी रखता है सेवा भी करता है सब कुछ करता है पर वो दुखी नहीं होता अगर वो डॉक्टर दुखी होने लग जाए तो दो साल में तो मर जाएगा रोज थोड़ा थोड़ा दुखी होता रहेगा होता होता दो साल में तो मर ही जाएगा वो जी नहीं पाएगा तो वो क्या करता है बिना दुखी हुए सारा काम करता है ऐसे ही हम देख रहे हैं समाज में अव्यवस्था है भ्रष्टाचार है चरित्रहीनता है और फैशन है और मांसाहार है और ये सब प्राणियों पे अत्याचार है हम देख रहे हैं हम समझ रहे हैं और हम इन गलतियों के विरोध में जो कर सकते हैं वो करेंगे कोई बुद्धिमान को बताएंगे कोई पुलिस वाले को बताएंगे कोई और आईएएस आईपीएस अफसर को बताएंगे जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक हम बताएंगे समाज के बुद्धिजीवी लोगों को जगाएंगे चाहे पत्र से चाहे ईमेल से चाहे फेसबुक से चाहे जैसे भी जो भी हमारे पास साधन है हम उसके माध्यम से उस चीज का प्रचार करेंगे और सीधा लाठी लेकर पहुंच गए उसकी दुकान पे कि तू ये अंडे वाली दुकान बंद कर नहीं तो सारे अंडे तोड़ देंगे तेरे फिर तो झगड़ा हो जाएगा उतनी हमको सरकार छूट नहीं देती फिर तुम हमारा मारी शुरू कर दो वो हमको छूट नहीं तो और यूं समझाएंगे उसको तो वो मानने वाला नहीं है तो जो उसका प्रॉपर तरीका है सही तरीका उस तरीके से हम प्रयास करेंगे पर दुखी नहीं होंगे दुखी नहीं होना चाहिए दुखी हो रहे हैं तो फिर मन पर नियंत्रण नहीं है फिर वो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती जी तो हाँ तो कुछ नहीं कर सकते फिर फिर दुखी क्यों हो रहे हैं जो कर सकते हैं वो करो अपने मित्र को बताओ साथी को बताओ कोई जो आपका अधिकारी है आसपास में रहता है वहां तक कान में डाल दो अपनी बात कि साहब ये गलत हो रहा है इसको रुकवाओ आपने इतना भी बोला तो भी आपने कुछ किया सब समर्थन में लेकिन ऐसे है ना आजकल जो कॉरपोरेटर्स है हम्म। वही ये दुकानें खुलाकर बैठे हैं तो हमारी बात कोई सुनने वाला ही नहीं नहीं सुनने वाला तो आपने अपना काम पूरा कर दिया ना अच्छा, तो फिर आपको कम से कम इतना काम करना चाहिए कि हमें उनको जाकर बोलना चाहिए बोलना चाहिए उसका कहीं भी प्रचार करो चाहे चिट्ठी लिखो चाहे ईमेल लिखो चाहे फेसबुक पे लिखो चाहे चर्चा में बैठो चार आदमियों से कहो जो बुद्धिमान मिलते हैं उन्हीं को कहो तो कम से कम आपने अपनी अभिव्यक्ति तो की आपने अपना कर्तव्य पूरा किया कि यह काम गलत हो रहा है और हम इसके विरोध में हम इसके समर्थन में नहीं है तो एक आदमी अगर कोई बात बोलता है तो उसका दूसरे पे प्रभाव पड़ता है और वो दूसरा फिर आगे तीसरे को बोलता है वो चौथे को बोलता है तो एक वातावरण बनता है तैयार होता है ऐसे बोलते बोलते बोलते धीरे धीरे एक माहौल बनेगा और फिर कुछ न कुछ जागृति आएगी समय लगेगा उसके लिए ऊपर से शक्ति भी चाहिए ऊपर से राजा की शक्ति हमारे पास इतनी नहीं है कम है पर कम से कम जो बोलने का अधिकार है वो तो हम पूरा कर ही सकते हैं वो तो अपना कर्तव्य पालन कर ही सकते हैं तो जितना कर सकते हैं उतना करो आपको ये संतोष रहेगा कि हम आलसी नहीं है हम इस काम से बच नहीं रहे हम भाग नहीं रहे हमारा जितना ताकत थी हमने पूरे लगाई जितना हमारा कर्तव्य बनता था हमने पूरा किया इससे आगे हमारी शक्ति नहीं है हमारा सामर्थ्य नहीं उतने में संतोष कर लेना है बस ठीक है हमने काम पूरा किया भगवान के सामने हम जाएंगे तो अच्छी तरह से जाएंगे ठीक तरह से उत्तर देंगे कि हमारे बस में जो था हमने पूरा किया अब लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम क्या करें इस तरह से हमको सोचना चाहिए और करना भी चाहिए पर दुखी नहीं होना चाहिए वो भी ऐसे तो थोड़े थोड़े तो कर सकता है पर वो सीधा भाग लंबा नहीं ले सकता इसमें अगर सीधा वो उसने एक संस्था बना ली चलो गोवत्या के विरोध में आंदोलन करेंगे तो सारा जीवन उसी में निकल जाएगा उसका और सारा दिन रात उसकी उसकी योजना और फिर इतने लोगों को मिलना और योजनाएं बनाना और फिर कार्यक्रम चलाना और फिर बड़े बड़े जलसे करना जुलूस करना तो ध्यान करने के लिए तो समय बचेगा ही नहीं उसके बाद तो उसको इस तरह से बड़े बड़े आयोजन नहीं करने चाहिए शाब्दिक समर्थन जरूर करना चाहिए जैसे किसी ने मुझसे पूछा फेसबुक पे कि साहब ये अन्ना हजारे जो कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं भ्रष्टाचार के विरोध में मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए कह रहे हैं और वो स्वयं भी ईमानदार आदमी है उसके पास कोई संपत्ति नहीं है सीधा साधा आदमी है और वो कह रहा है हम देश की रक्षा के लिए ये काम करेंगे और ये भ्रष्टाचार को बंद करेंगे तो अच्छी बात है उसका समर्थन कर दिया हमने ऐसे कर देना चाहिए अब जो हमारे पांच सौ हजार लोग परिचित हैं हम कहेंगे कि वो अच्छा काम हो रहा है तो हमारे जो परिचित हैं वो भी जो उन पर विश्वास करते हैं वो सब भी उसका सहयोग करें तो ऐसे एक वातावरण बनेगा और अच्छे आदमी को सहयोग मिलेगा तो इससे बुराई दबेगी और अच्छाई ऊपर आएगी ऐसा कर देना चाहिए तो इतना करने में हमारी हानि नहीं होती उतना हम कर देते हैं बाकी पूरे विस्तार से सम्मेलन करें आयोजन करें वो अपने बस का नहीं तो वो हम उस विषय में अधिक जोर नहीं लगाएंगे हमारा जो मुख्य कार्य है विद्या प्रचार का मोक्ष प्राप्ति का लोगों को इस बात को भी तो जगाना है ये बहुत बड़ी चीज है मोक्ष प्राप्ति के लिए लोगों को जगाना है लोग तो बस खाने पीने और भोग में पड़े किसी को मोक्ष के बारे में कोई सोचता ही नहीं कोई विचार ही नहीं आता ये फील्ड कितना खाली पड़ा हुआ है कोई प्रचार ही नहीं कर रहा इस वक्त कोई लोगों को जगाता ही नहीं तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है जिसमें काम की बहुत जरूरत है और काम करने वाले हैं ही नहीं दो चार मुश्किल से गिने चुने लोग हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें वक्ताओं की प्रचारकों की अच्छे विद्वानों की योगाभ्यासियों की आवश्यकता है इसलिए हम इस काम में जोर लगाते हैं इस काम में जोर लगाने से हम अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ते हैं और समाज की सेवा भी होती है समाज को भी लाभ है हमको भी लाभ है दोनों को लाभ इसलिए हम इस काम में जोर लगाते हैं और जिन लोगों की उस कार्यो में रुचि है राजनीति में भ्रष्टाचार के विरोध में सीधा सम्मेलन करना आयोजन करना जिसकी उसमें रुचि है वो वो कर ले हमारी इसमें रुचि हम ये कर लेते हैं वो भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं दोनों कर रहे हैं अच्छी बात है ऐसे करना चाहिए ठीक है हाँ बोलिए ये करुणा क्या होती है करुणा का अर्थ होता है दूसरे के प्रति दया की भावना भाई दूसरा व्यक्ति हमसे कमजोर है भगवान ने हमको कुछ ज्यादा सामर्थ्य दिया है और उसके पास किसी परिस्थितिवश कम हो गया तो वो भी इंसान है अथवा वो मन आत्मा तो है ही चाहे कुत्ता हो गधा हो गाय हो कोई भी हो प्राणी आत्मा तो उसमें भी है तोता है बेचारा वो पिंजरे में फंसा फंसा हुआ है बेचारा आत्मा तो उसमें भी है वो भी खुले में उड़ना चाहता है और उसको लोग उड़ने नहीं देते तो हमें उस पर थोड़ी सी दया की भावना आती है कि बेचारा परेशान है मुसीबत में है और इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए चलो मान लिया गाय है सड़क पे घूम रही है अब हमारे तो हाथ पांव हैं हम तो नौकरी कर सकते हैं व्यापार कर सकते हैं पैसे कमा सकते हैं खेती कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं फैक्ट्री लगा सकते हैं तो हम तो खुद कमा के खा सकते हैं अब गाय बेचारी क्या कर सकती है कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकती कोई व्यापार नहीं कर सकती कोई नौकरी नहीं कर सकती उसके पास तो कुछ भी नहीं है करने को बुद्धि भी नहीं है साधन भी नहीं है हाथ पांव भी नहीं कुछ भी नहीं तो वो बेचारी पेट तो उसको भी भरना है भूख तो उसको भी लगती है अब वो कहां से खाना आएगा उसका कौन लाएगा उसके लिए हमको ही करना तो उसको देखकर हमको दया आती है कि ये बेचारी कमजोर है खुद कमा नहीं सकती इसकी जिम्मेदारी भी हमारी तो हम उसको कुछ चारा खिलाएंगे कुछ हरा चारा खिलाएंगे कुछ सूखा खिला देंगे जो भी हम खिला सकते हैं उसको कुछ खिला देंगे ताकि उसका भी जीवन ठीक ठाक चलता रहे और फिर हम उससे लाभ भी ले लेते हैं दूध का लाभ भी ले लेते हैं तो फिर उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज भी बनता है कर्तव्य भी बनता है तो इस प्रकार से जो हमसे कमजोर है उसको देखकर हमारे मन में उसके प्रति कुछ सहानुभूति कुछ दया की भावना आती है इसका नाम है करुणा ये है करुणा और ऐसी भावना उत्पन्न करके फिर उसकी सहायता भी करें यथाशक्ति जो हम कर सकते हैं जितना हमारे पास समय है जितना हमारे पास साधन है जितनी हमारी उस कार्य में रुचि है उतना हमको करना चाहिए तो करुणा होते समय भी प्रसन्नता हाँ यदि हम उसके प्रति करुणा की भावना रखते हैं तो हमारे मन में ये समस्या नहीं आएगी कि हम दुखी हो जाते हैं हम दुखी नहीं होंगे हमारे मन में भावना आई और हमने उसका सहयोग किया जब उस कमजोर का गाय हो चाहे मनुष्य हो उस कमजोर प्राणी का हमने सहयोग किया तो ईश्वर हमारे अंदर सत्वगुण को बढ़ा देगा हमने उसकी सेवा की सहायता की तो तुरंत ईश्वर हमारे मन में सत्वगुण को बढ़ाएगा और सत्वगुण के बढ़ने से मन प्रसन्न हो जाएगा मेरा अब तक का ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसे प्राणियों को देखता हूँ या कोई एक्सीडेंट में ऐसे पता है उनकी उनकी सहायता कर रहा हूँ हम्म। ऐसे दुख वगैरह नहीं होता है हम्म। बिल्कुल नहीं होता ठीक है करोना पता नहीं क्या होता है मुझे वो ज्यादा पता नहीं है तो आपको आपको ऐसी फीलिंग होती है बेचारा मुसीबत में हाँ, मैं तो करता हूँ उसकी मदद इसलिए वो इसी भावना से आप मदद करते हैं जब तक आप ये फीलिंग नहीं करेंगे कि ये बेचारा मुसीबत में है तब तक आप उसकी सहायता नहीं कर ही नहीं सकते तो जिस भावना से प्रेरित होकर आप उसकी सहायता करते हैं उसी का नाम करुणा है ना अच्छा। हाँ, उसकी उसी का नाम है करुणा कुछ लोग ऐसे बोल के बताते हैं कि उनको कितनी कष्ट हो रहा है हाँ, हाँ। बोलना वगैरह वो खाली बोलते ही बोलते हैं करते कुछ नहीं तो खाली बोलने से तो निर्णय नहीं होता कि इनमें कितनी करुणा है कई लोग बोलने में बड़े चतुर होते हैं नाटकबाज होते हैं वो ऐसे मगरमच्छ के आंसू निकालेंगे जैसे वो बड़े दयालु हैं और उल्टा और उनका शोषण करेंगे <clears throat> उनकी संस्था में जाएंगे और वहां मैनेजर बन जाएंगे कोई पद पर बैठ जाएंगे और जो भी साधन संपत्ति आती सहयोग की उसी में से खा जाएंगे तो मतलब ये कोई करना थोड़ी है तो और लूटमार है उनके साथ और अन्याय है विचारों के साथ तो वो करुणा का लक्षण नहीं है कि आप बड़े दुख से व्यक्त कर रहे हैं बेचारे बहुत परेशान है और हम उनकी बहुत सहायता करना चाहते हैं आपके प्रैक्टिकल से पता चलेगा आपने प्रैक्टिकली सहायता क्या की आपने व्यवहारिक रूप से उसको क्या सहयोग दिया उससे पता चलता है आपके मन में क्या भावना है एक किसी ने लिखा था सुविचार कि समाज जो है वो हमें जो समझता है वो हमारे मन की नियत को नहीं समझता वो हमारे जो बाह्य व्यवहार है हमारे जो प्रदर्शन है हमारा वो उससे समझता है कि इसके मन में क्या है हमारे मन में तो घुस के देख नहीं सकता कोई भी व्यक्ति हमारे मन में क्या है वो तो जो हमारा बाह्य व्यवहार है उसी से अनुमान लगा सकता है कि इसके मन में क्या भावना है ठीक है तो समाज की स्थिति यह है कि वो हमारे बाह्य प्रदर्शन से जानता है कि हम कैसे हैं वो मन की नियत को नहीं समझता और ईश्वर जो है वो मन की नियत को समझता है वो बाहर के प्रदर्शन के बहकावे में नहीं आता <laughs> लोग बाहर से प्रदर्शन कर सकते हैं दूसरों को बहका भी सकते हैं नाटक करके तो जो हम बाहर का नाटक करते हैं ईश्वर उस, उसके चपेट में नहीं आता वो हमारे नियत को जानता है तो बहुत अच्छी बात बताई ईश्वर हमारी नियत को जानता है वो बाह्य दिखावे पर नहीं जाता और समाज हमारी नियत को नहीं समझता वो बाह्य दिखावे से गिनता है हमको आंकता है कि हमारी क्या योग्यता है और क्या हमारी स्थिति है इसलिए दोनों तरह का व्यवहार हमको दोनों से अलग अलग करना पड़ता है ईश्वर से व्यवहार करना हो तो वो तो जानता ही हमारी नियत क्या है वास्तव में और समाज के साथ करना हो तो हमें वो प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं उसी से समाज हमको समझेगा कि हमारी असली भावना क्या है इसलिए वहां पर करुणा से हमको दिखाना पड़ेगा व्यवहार हमने प्रैक्टिकल क्या किया बस वही हमारी भावना पहचानी जाएगी और मानी जाएगी ठीक है चलिए ये भाष्य पूरा हो गया आगे चले हाँ बोलिए ये चित्त को प्रसन्न करना हम्म। ये मोटी भाषा है चित्त जड़ है वो प्रसन्न होता नहीं फिर भी मोटी भाषा में कह दिया जाता है प्रसन्न तो आत्मा ही होता है पर मोटी भाषा में कहते हैं जैसे मेरी आंख देखती है कान सुनता है पेन लिखता है पेन थोड़ी लिखता है लिखता तो मैं हूं पेन तो लिखने का साधन है बोलने को ऐसा मैं कह देता हूं मेरा पेन अच्छा लिखता है ये कैंची बहुत बढ़िया काटती ये चाकू छुरी बहुत बढ़िया सब्जी काटती वो सारी जड़ वस्तु हैं सिर्फ एक्टिव वॉयस इसलिए बोला गया कि उस वस्तु की कार्य क्षमता समझाई जा सके उस वस्तु में क्या कैपेसिटी है बस वो बताने के लिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोला न कि वो स्वयं वो क्रिया कर रही तो ऐसे ही ये बोलने की भाषा है कि मन प्रसन्न होता है भाव यह है कि ऐसा व्यवहार करने से हमें प्रसन्नता होती है आत्मा को और उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति का साधन मन है इसलिए मन के नाम से बोल दिया देखने का साधन आंख है इसलिए आंख के नाम से बोल दिया मेरी आंख देखती है जबकि वास्तव में वो देखती नहीं है वो दिखाती है देखता तो मैं हूं आत्मा जी और जो हम बोलते हैं कि सत्वगुण को उभारना रजोगुण हम्म। को हम्म। तो वहाँ एक्चुअली कुछ चेंजेस होते हैं उस जड़ वस्तु में या हम होते होते, होते। बिल्कुल होते मन के अंदर सत्व रजतम तीनों गुण है तो यदि हम सात्विक कोई वस्तु देखते हैं हम्म। कोई अच्छी वस्तु देखते हैं तो उस अच्छे दृश्य को देखने से मन के अंदर सत्वगुण उभरता है उसका प्रभाव बढ़ता है और यदि हम कोई खराब दृश्य देखते हैं हम्म। कोई खराब चीज खा लेते हैं मिर्ची मसाले अचार चटनी चटपटी चीजें खाते हैं तो उससे हमारे मन में और शरीर में रजोगुण की वृद्धि होती है मतलब वो उसका प्रभाव बढ़ता है भौतिक चीज खाएंगे तो उससे तो शरीर में तो वृद्धि हो जाएगी मन में परमाणुओं की वृद्धि नहीं होगी शरीर में तो परमाणुओं की भी वृद्धि हो जाती है क्योंकि हम खाते हैं ऊपर से स्पष्ट दिख रहा है अंदर जा रहा है भोजन मन में उस रजोगुण की का उभार होगा उसका प्रभाव बढ़ जाएगा ऐसे ही तमोगुणी वस्तु खाएंगे या तमोगुणी दृश्य देखेंगे खराब या ऐसे गंदी गंदी बातें सुनेंगे तो मन में तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी यानी उसका प्रभाव बढ़ जाएगा परमाणु तो उतने ही रहेंगे शरीर में परमाणु भी घटेंगे बढ़ेंगे इसलिए क्या सात्विक भोजन खाओ घी दूध फल मिठाई दाल चावल सब्जी घी आदि इस तरह से सात्विक भोजन खाओ तो शरीर में भी सात्विकता बढ़े और उसका प्रभाव मन पे भी पड़ेगा इस तरह से और कोई प्रश्न हाँ बोलिए दुखी तो हम होते ही है हम्म। मतलब अभी तक सर तो वैसा नहीं बना ठीक है तो कैसे दुख को कम करना चाहिए मतलब कोई भी चीज से दुखी तो होते ही है एक्स वाई जेड ठीक बात दिन भर में जैसे अभी मैंने दस एक आठ दस उदाहरण दिए थे गैस खत्म हो गई हाँ। टेलीफोन बिगड़ गया हाँ। दूसरे ने हमारा काम नहीं किया हाँ मतलब कोई ना कोई चीज दुखी करती रहती है तो उस वक्त मतलब कैसे रोके उस दुख को रोके हाँ क्योंकि होते ही है हर वक्त तो वो ठीक बात उतनी ऊंची रहती नहीं, नहीं। हाँ। तो इसका उत्तर यह है कि दुख का कारण ढूंढे दुखी क्यों होते हैं दुख का सबसे बड़ा कारण है अविद्या आर्य समाज का आठवां नियम क्या है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए ठीक है तो ये जो अविद्या है ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है और फिर उसके बाद राग है द्वेष है वो उसका परिवार है अविद्या का ही परिवार है उसके भाई भतीजे बेटे पोते हैं सारे इसी में ही पैदा होते हैं जिसमें अविद्या ज्यादा होगी उसमें राग द्वेष भी ज्यादा होगा अविद्या कम होगी तो राग द्वेष भी कम होगा अविद्या बढ़ती जाएगी राग द्वेष बढ़ता जाएगा अविद्या घटती जाएगी राग द्वेष घटता जाएगा तो ये सब अविद्या का ही परिवार है राग द्वेष आदि जो भी तो दुख का कारण है मूल रूप से अविद्या और साथ साथ ये राग द्वेष भी तो दुख क्यों होता है हमारे अंदर अविद्या है राग है द्वेष है इसकी वजह से हमको दुख होता है तो क्या करना अपने अंदर अविद्या को ढूंढिए मेरे अंदर कितनी अविद्या है कौन कौन सी अविद्या है जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं एक उदाहरण देता हूं अविद्या क्या है पहले परिभाषा समझ लें अविद्या की परिभाषा यह है कि जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा नहीं समझना उससे कुछ उल्टा ही समझना इसको अविद्या कहते हैं ठीक है जैसे कहीं कोने में रस्सी पड़ी है और थोड़ा अंधेरा सा है लाइट कम है तो हमने क्या समझ लिया सांप समझ लिया है तो रस्सी और समझ रहे हैं सांप इसका नाम अविद्या है भ्रांति कहो अविद्या कहो मिथ्या ज्ञान एक ही बात तो जब रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो डर लगता है उसका प्रभाव पड़ता है इसी तरह से संसार के अंदर जो चीजें हैं चाहे जड़ वस्तुएं हों और चाहे चेतन प्राणी हो मनुष्य पशु पक्षी ये इनका सही स्वरूप तो कुछ और है और हमने समझ रखा है कुछ और ये अविद्या इस वजह से हमको दुख होता है एक उदाहरण मान लो आपकी कोई सहेली है फ्रेंड है उससे अच्छी आपकी दोस्ती है मित्रता है और दस साल से चल रही है बहुत अच्छी चल रही है तो पिछले दस वर्ष के अनुभव के आधार पर आप क्या उससे आशा रखेंगी ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है और ये सदा मेरे साथ रहेगी कभी मुझे धोखा नहीं देगी आप ऐसा मान लेंगे ठीक है अब क्या इस बात की गारंटी है कि वो आपको कभी धोखा नहीं देगी गारंटी नहीं है ना पर आपने विश्वास कर लिया उस पर कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देगी ये अविद्या है इस अविद्या के कारण जब कभी वो ऐसा कोई घटना आ जाएगी किसी दिन जब वो आपको धोखा दे जाएगी तब आपको बहुत दुख होगा इसने मुझे धोखा दिया इस पे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये मुझे धोखा देगी तब देखना कितना दुख होगा तो ये दुख का कारण क्या है अविद्या आपने ये सोच रखा था ये कभी धोखा देगी ही नहीं ये आपकी भूल थी तो ये मैंने एक उदाहरण दिया इसको सब जगह लागू कर लीजिए भाई हो बहन हो माता पिता पड़ोसी चाचा मामा भाई भतीजे रिश्तेदार दोस्त कोई भी आदमी हो वो वो उसको हम वैसा समझ लेते हैं जैसा वो है नहीं और फिर जब उस दिन कोई घटना घटती है तब हमको झटका लगता है ये क्या हुआ इसने ऐसा किया इससे तो ऐसा तो हमने उम्मीद नहीं रखी थी बस फिर हमको दुख होता फिर कुत्ता है गाय है घोड़ा है गधा है पशु पक्षी है इनसे भी हम आशा नहीं रखते ये हमको नुकसान करेंगे जबकि वो भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं और हम अविद्या में है कि ये हमका हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगे फिर जब वो नुकसान करते हैं तब तो हमको उन पर भी दुख होता है गुस्सा आता है ये, ये, ये देखो इसने ऐसा कैसे कर दिया ऐसा इससे उम्मीद नहीं थी आपको उससे उम्मीद नहीं थी इसीलिए तो आपको आज दुख हो रहा अगर आपने पहले से उम्मीद लगाई होती कि ये भी ऐसा कर सकता है ये भी ऐसा कर सकता है तो आप पहले से तैयार होते इस घटना के लिए और आपको दुख नहीं होता बिल्कुल नहीं होता दुख और आश्चर्य उस घटना पर होता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है सोचा ही नहीं इसीलिए तो दुख हो रहा परिवार में किसी की मृत्यु हो गई फिर देखो कैसे रोते हैं लोग तब क्यों रोते हैं क्यों हो रहा दुख मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा इसीलिए तो आप रो रहे हो आज अगर आपने पहले से सोचा होता कि ऐसा भी हो सकता है तो आज आपको ये रोना नहीं पड़ता आज आपको ये दुख नहीं होता तो ये है अविद्या जो हमारे दुखों का मूल कारण है तो अपने अंदर ढूंढते रहिए कि हम लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्या क्या उम्मीद रखते हैं कितनी सारी उम्मीदें रखते हैं उनको कम करें उम्मीदों को घटाएं कोई गारंटी नहीं है जैसा आप सोचते हैं दूसरा व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करेगा वो स्वतंत्र है उसकी बुद्धि अलग है आपकी बुद्धि अलग है उसके विचार अलग है आपके विचार अलग है उसके संस्कार अलग है आपके संस्कार अलग है कोई भी दो व्यक्ति धरती पर ऐसे नहीं है जिनके विचार 100 परसेंट एक जैसे मिलेंगे न विचार मिलेंगे न संस्कार मिलेंगे न बुद्धि मिलेगी एक जैसी कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा ही तो जितना जितना अंतर होगा उतना उतना टकराव होगा और जितना जितना टकराव होगा उतना उतना दुख होगा तो दुख का कारण तो हमारी अपनी अविद्या है अपनी अविद्या को ठीक करो दुख खत्म बस ये है दुख को जीतने का तरीका और जो घटनाएं हो रही है गैस खत्म हो गई आपने नाश्ते के लिए चूल्हा जलाया और तवे पे रोटी डाली और गैस खत्म हो गई आपको बड़ा गुस्सा आएगा क्या नाला है इसी समय गैस खत्म होनी थी क्या कम से कम दो रोटियां तो पूरी हो जाती <laughs> उसके बाद गैस खत्म होती तो ठीक था बीच में आधा रास्ता में नाश्ता लटक गया अब क्या करें <laughs> तब तो गुस्सा आएगा तो गुस्सा इसीलिए आता है कि हमने ये सोचा था हमारा नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद गैस खत्म होगी उसको पता है क्या गैस को कि अभी इसका दो रोटियां और पका दू फिर खत्म हो <laughs> उस बेचारी को क्या मानू तो जड़ वस्तु है और हमें ये पता नहीं कि बची कितनी है हमने काम शुरू कर दिया हमको पहले से पता होता तो शायद हम ये शुरू नहीं करते तो बस सारी बात वही है अविद्या की तो जड़ वस्तुओं पे तो क्या गुस्सा करना उस पर तो करने का कोई लाभ नहीं वो जानबूझ के इंटेंशनली हमारा कोई काम बिगाड़ते नहीं है कोई मशीन बिगड़ गई चलते चलते है? पंखा बंद हो गया कोई शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं मकान में आग लग गई किसी कारण कोने में वायरिंग में और मशीन स्कूटर चलते चलते बिगड़ गया तो वो तो जड़ वस्तु है वो कोई हमसे दुश्मनी थोड़ी उसकी कोई हमसे बदला लेने के लिए थोड़ी उसने हमारा काम बिगाड़ा तो जड़ वस्तु को तो गुस्सा कभी भी नहीं करना चाहिए और रही बात चेतनों की चेतनों के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए कि वो ऐसा भी कर सकता है वो हमारा काम ठीक भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है दोनों बातें अगर ठीक करेगा तो ठीक है और बिगाड़ेगा तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है उसने यहां से बिगाड़ा तो हम यहां से कर लेंगे ठीक यहां से कर लेंगे किसी और की सहायता ले लेंगे किसी और की ले लेंगे ऐसे ऑप्शन बना के रखो तो आप दुखी नहीं होंगे और फिर दो चार पांच छह ऑप्शन रखे भी आपने तो दूसरे ऑप्शन से भी सहायता नहीं मिली तीसरे से भी नहीं मिली चौथे से भी पांचवें से भी छठे से भी कहीं से नहीं मिली सब जोर लगा के देख लिया और देख लिया भाई ये काम नहीं हो रहा तो उसको दिमाग से निकाल दो अगर सुखी होना है तो उस काम को दिमाग से हटा दो और ये सोच लो कि ये अपनी ताकत से बाहर है इसको भूल जाओ इसके बिना ही जी रहेंगे और कितनी सारी चीजें <laughs> जो हम आज प्राप्त नहीं कर पा रहे आप फरारी कार खरीद सकते हैं इतने पैसे हैं जेब में नहीं है ना तो उसके बिना जी रहे हैं ना तो उसको आपने दिमाग से निकाल दिया कि भाई ये अपने बस की नहीं है ये हम नहीं खरीद सकते हम कोई राजाओं का कोई सौ करोड़ का महल नहीं खरीद सकते हमारे पास पैसे नहीं है तो उसको दिमाग से आपने निकाल दिया तो मजे से जी रहे उसके लिए एक छोटा सा गाना है हाँ जहर जिंदगी का पी लेंगे हाँ बस पी लेंगे और जी लेंगे जैसा है वैसे जी लेंगे और क्या ठीक बात है हाँ बोलिए क्या पूछ रहे काटते हैं तो तो थोड़ा दुख होता है तो मतलब ये सोचो कि ये जो कर रहा है कसाई प्राणियों को मार रहा है ये ठीक नहीं कर रहा ये अत्याचार कर रहा है और इसका इसको दंड मिलेगा हमारे समझाने से समझता नहीं पड़ोसियों के बताने से ये रुकता नहीं ठीक है वो ताकत वाला है और अपना उसका व्यवसाय उसने चुन लिया है गलत चुन लिया है और वो दुष्ट स्वभाव का है दुष्ट प्रकृति का है मानता वो है नहीं तो फिर अंत में ईश्वर इसको दंड देगा हम अभी साक्षात तो रोक नहीं सकते और आपको उस घटना के देखने से यदि खिन्नता होती है परेशानी होती है तो उस तरफ देखो मत हाँ दूसरा एक ये रास्ता है आप अपना मूड क्यों खराब करें आप उस दिशा में जाओ मत उस दृश्य को देखो मत जिससे मन खराब होता है उधर से बच के निकलो इतना हम कर सकते हैं इतना कर लो ठीक है चलिए विराम देंगे बाकी फिर कल पढ़ते हैं एक बार ओम बोलेंगे ओ